सज्जनों मातृ शक्ति ईश्वर की महती कृपा से ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य से हम इस अपने आरिवन विकास में क्रिया आत्मक योग का प्रशिक्षण देने और दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ने सुना था आपको समझाने का प्रयास किया था कि ईश्वर के साथ जीव का क्या संबंध है ईश्वर और जीव का पिता पुत्र का संबंध है ईश्वर और जीव का माता पुत्र का संबंध है ईश्वर और जीव का आचार्य शिष्य का संबंध है ईश्वर और जीव का राजा प्रजा का संबंध है ईश्वर और जीव का व्याप्य व्यापक संबंध है अब आप ध्यान देंगे जिस ईश्वर पिता के साथ ईश्वर माता के साथ ईश्वर आचार्य के साथ हमारा ये संबंध है वह क्या चाहता है उसकी आज्ञा क्या है उसका आदेश क्या है वेद के अनुसार एक नियम है अनुवर्त पिता पुत्र अर्थात वेद मंत्र में एक बात करेगी अनुव्रत पितु पुत्र पिता के अनुसार वो पुत्र चलने वाला होना चाहिए मात्रा भवतु सम्मान और माता के साथ समान मन से हो साथ चलने वाला होना चाहिए ईश्वर हमारा पिता है तो हम ईश्वर के आदेशा अनुसार चलेंगे तो तो हम पुत्र हैं नहीं तो नहीं ईश्वर हमारी माता है हम माता के साथ अपने विचारों को मन, बना के चलेंगे अन्यथा ईश्वर हमारी माता नहीं हो सकता इसी भांति आचार्य का जो आदेश आज्ञा उसके अनुसार जो चलता है वो शिष्य होता है जो नहीं चलता वो शिष्य नहीं कहलाता राजा को अपना पिता वत मान के प्रजा चलती है तब वो उसकी प्रजा कहलाती है राजा न्यायकारी राजा से यदि विरुद्ध चलती है तो वो प्रजा प्रजा नहीं कहलाती इसलिए हम सफल होना चाहते हैं तो हमको ईश्वर के आदेश वो मानने पड़ेंगे उनका अनुकरण करना पड़ेगा धर्म क्या है और पाप क्या है केवल संक्षिप्त रूप में ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है ईश्वर के आदेश से विरुद्ध चलना अधर्म है ईश्वर के आदेश अनुसार चलना सत्य है ईश्वर के आदेश से विरुद्ध चलना असत्य है ईश्वर के आदेश अनुसार चलना न्याय है ईश्वर के आदेश से विरुद्ध चलना अन्याय है ऐसे विभाजन करते चले जाओ सभी बातें विभाजित हो जाएंगी ईश्वर के आदेशानुसार चलना विद्या है ईश्वर के आदेशानुसार विरुद्ध चलना अविद्या है सब जगह लागू होता है ऐसा क्यों ईश्वर सर्वज्ञ होने से सर्वशक्तिमान होने से और आनंद से परिपूर्ण होने से इन हेतुओं से ईश्वर कभी भूल नहीं करता समझ में नहीं आया कैसे सुनो ईश्वर सर्वज्ञ है भूल नहीं करता एक बात ईश्वर परिपूर्ण है वो ईश्वर कमी नहीं के कोई चीज उसको चाहिए इससे ईश्वर स्वार्थ के काम नहीं करता स्वार्थ ही नहीं बनता अपने लिए कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनुचित काम करे नहीं करता ईश्वर सर्वशक्तिमान है इसलिए अन्याय नहीं होने देता मैं करने देता अपने क्षेत्र में ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है इसलिए ईश्वर के आदेश के अंदर कोई त्रुटि हो नहीं सकती इसलिए सर्वोपरि अंतिम निर्णय ईश्वर का ही आदेश होगा और किसी का नहीं हो सकता कसौटी यही है मनुष्य कितना ही विद्वान हो कितना ही देता हो कितना ही भौतिक वैज्ञानिक हो कितना ही ऋषि योगी क्यों न हो वो व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता सर्वशक्ति मान नहीं हो सकता आनंद से परिपूर्ण नहीं हो सकता इसलिए अंतिम निर्णय रहता है ईश्वर का आदेश ईश्वर का वाक्य धर्म का निर्णय केवल यही होता और कहीं भी नहीं होता पाश्चात्य लोगों ने अपने अपने ढंग से बड़े भारी परिश्रम करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया अंतिम अच्छाई क्या है और अंतिम बुराई क्या है बुरा क्या है और अच्छा क्या है भला क्या है और बुरा क्या है इसका निर्णय प्राय वह नहीं कर पाए जो ईश्वर को इस रूप में नहीं मानते उनकी बात कर रहा हूं एक व्यक्ति अपना निर्णय करता है कि यह अच्छाई है और यह बुराई दूसरा कहता नहीं तुम्हारी जो अच्छाई है ये बुराई है मैं ये कहता हूं तुम्हारी अच्छाई है अंतिम अच्छाई है इनमें क्या प्रमाण है तुम पीर अल्पज्जी हो अल्पज्जी तो बुराई कर सकता है तो तुम भी बुराई कर सकते हो तो कोई भी व्यक्ति अपना सिद्धांत अंतिम नहीं जमा पाता ऋषियों ने क्या कहा ऋषियों ने कहा कि मैं तो मैं सर्वज्ञ हूं मैं अंतिम सच्चाई को बता सकूंगा और मैं पतंजलि बता सकेगा न गौतम ने कनाद ने दयानंद कोई नहीं वो कहते कि हमारी बात वहीं तक ठीक है कहा ईश्वर के साथ ठीक बैठती हो बैठ हमारी बात वहीं तक ठीक है जहां ईश्वर के अनुसार हो और जो ईश्वर के अनुसार भी हमारी बात गलत है इन्होंने घोषणा ये कर दी और सारे जीवन को उनके माखड़े हुए कहते यहां ईश्वर की बात हम ईश्वर को मान्य है और वो भूल नहीं करता सर्वज्ञ होने से सर्वशक्तिमान होने से आनंद से परिपूर्ण होने से तो सारे ऋषि एक पंक्ति में आगे खड़े हो गए अब पाश्चात्य लोग ऐसा नहीं कर पाते उलझे हुए हैं बेचारे और स्वयं उलझ गए और दुनिया को उलझा दिया प्राय प्रसिद्ध बात है अब पढ़ के देख लो तो ऐसा मिलेगा क्योंकि नींदारी और रोटी तो नहीं खाई है नहीं सुनोगे ना जहां से पाश्चात्यों का दर्शन जहां समाप्त होता है वहां पर वैदिक दर्शनों का अब तो जाग गए जात पता चलता है ये जागा रहे तमरीचा काम है कामयंती जो जागता है उसको रिचाई का ज्ञान मिलता है ज्ञान मिल गया नहीं तो सो जाते तो कार्य होता तो ये आप देखेंगे कि ये स्थिति उनकी बनी हुई है विचारों की और इसलिए ऋषि सफल रहे और ऋषियों के मानने वाले आज सफल हो सकते हैं पर ऋषियों के मानने वालों के प्राण जैसे निकल गए आज तो एक बात याद रखिए वेद ईश्वर का गुणक्रम स्वभाव ये निर्णय अंतिम निर्णय है किसी भी बात का और ध्यान देना जैसा जैसा ईश्वर का आचरण है वैसा वैसा हम करेंगे वो हमारा धर्म है अनुकरण करते हैं हम ईश्वर का जैसा जैसा ईश्वर का आदेश है वो हमारे लिए अंतिम रूप है उसमें संदेह की बात नहीं और याद रखना जिद्द व्यक्ति इतना दृढ़ वहां पर अपना निर्णय कर लेता है ना ईश्वर का अंतिम निर्णय ही है उस व्यक्ति को कोई डगा नहीं सकता कभी चल के देख लीजिए आप अंतिम अं- निर्णय ईश्वर का मानने वाला बुद्धिपूर्वक वो मर जाएगा खत्म हो जाएगा संसार से शरीर नाशवान है पर उसके धर्म से उसकी सच्चाई से उसको कोई व्यक्ति डरा नहीं सकता ये बात उसी में आएगी और हम नहीं आ सकते सभी बातें साथ जोड़िए और अंतिम निर्णय हेतु साथ रखिए कार्य साथ रखिए ईश्वर सर्वज्ञ है ध्यान देना ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर सर्वव्यापक है आने से परिपूर्ण है कोई भी तो कमी नहीं क्योंकि कमी जब नहीं है तो वो कमी का वाक्य कैसे बोलेगा वो व्यक्ति कमी का आदेश कैसे आएगा उसका जो कमी हो ही नहीं सकती कल्पना ही नहीं कर सकते कि ईश्वर को ऐसी बात कहेगा जिसमें त्रुटि हो ईश्वर ऐसा आदेश देगा जिसमें त्रुटि हो ऐसा तो संभव ही नहीं है तो निसंदेह हो जाता है व्यक्ति अन्यथा उसको संदेह की जो बात जो है वो रोकती है सच्चाई से रोकती है डरता है व्यक्ति तो इसलिए एक परिणाम निकालिए आप ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव वेदों के अनुकूल और जो ऋषि ने पांच कसौटी लिखी है सत्यार प्रकाश में अनेक जगह लिखी है अंत में लिखी है तीसरे सुमलास में लिखी है आरिफ देश रतनमाला में लिखी है व्यवहार भानु में लिखी है पांच कसौटी लिखी कहा कि पांच कसौटियों से सत्या सत्य का निर्णय करो ये उसमें आया और पांच कसौटियों से सत्या सत्य का निर्णय करके जो सत्य ठहरता है उसका जम जाओ और असत्य को बाहर फेंकर निकाल गए वेद मंत्र में एक संकेत अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामी तत्सकीयम तन मेरा देताम इदम हैम अनरितात पर नहीं प्राय मंत्र की व्याख्या सत्संग में जानने वाले सुनते रहते अब शब्द भी सीधे हैं और बार बार व्याख्या सुनने से मंत्र सरल बन जाता है जो भाषा नहीं आती हो तब भी अग्नि ये पद है संबोधित करता है हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर अग्नि हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर है अग्नि व्रतम व्रतपते व्रतपति ईश्वर है व्रतपति तो व्रतपति का क्या अर्थ किया सत्यपति फिर कहते सत्यपति का क्या अर्थ करते हो <laughs> जो व्यक्ति मन से वाणी से कर्म से सर्वथा सर्वदा सत्य का पालन करता है वह है सत्यपति <laughs> आप मुझे परमात्मा मनवा लेना कभी वक्ता का अभिप्राय ये ऋषि की व्याख्या में मिलेगा आपको ये कहा मिलेगा वेद भाष्य में ऋषि की व्याख्या में मिलेगा ये ईश्वर को सत्यपति लिखा है किसी ने एक बात उठाई कि देखिए जी स्वामी सत्यपति जी ने ये सत्यपति नाम रख लिया कहीं धरती पर है कहीं सत्यपति और आगे नहीं लगे चलते गए तो हमने तो देख सोच समझ के किया था ऐसा थोड़ा ही था व्याकरण की दृष्टि से देखो वेद की दृष्टि से देखो तब नाम रखते हैं तो बात एक ऐसी हुई जब ये चर्चा चली कि इन्हें खंडन किया तो दूसरा व्यक्ति जो पठित तो एक व्यक्ति था वो कहने लगा ये उसकी कल्पना नहीं है ये स्वामी दान जी के वेद भाष्य में परमात्मा के लिए सत्यपति लिखा है जी उसकी आंखें खुली मंत्र की व्याख्या में चलो वो चर्चा उस ओर गई अब वहीं आते हैं तो परमात्मा है व्रतपति सत्य ही जानना सत्य ही मानना सत्य ही करना असत्य ने मानना ने बोलना ने करना तो जो ऐसा करता है वो व्रतपति है ईश्वर व्रतपति है और ईश्वर के व्रत नियम आचरण आदेश अनादिकाल से जो के तू चले आ रहे हैं कभी भंग नहीं होते अनादिकाल से व्रतपति है अनादिकाल से ईश्वर का सत्य आचरण है सत्य ज्ञान है सत्य वाणी है सब कुछ उसका है और हमने निवेदन क्या किया हे व्रतपते व्रतों का पालन करने वाले ईश्वर व्रतम चरी श्यामी मैं व्रतों का पालन करूंगा हमने भी व्रत ले रखे ऐसे नहीं चलते सत्य ही बोलेंगे सत्य ही लिखेंगे सत्य ही आचरण करेंगे और इसी कारण से हम सत्य का जितना अंश कर पाते हैं इसी आधार पर करते हैं बिना व्रतों के बिना संकल्प के कोई व्यक्ति सत्यवादी नहीं बन सकता तो व्रतम चरिष्यामी मैं भी व्रतों का आचरण करूंगा सत्य को ही मानूंगा सत्य को ही बोलूंगा सत्य को ही करूंगा असत्य को नहीं मानूंगा असत्य को नहीं बोलूंगा असत्य को नहीं करूंगा तत्केयम तत्केयम उसको मैं कर सकू अभी तो शकू बोलते हैं ना गुजराती में है हूं नहीं कर सकू क्या बोलते हो <laughs> क्या क्या बोलते हो हम्म? हूं नहीं कर सकू क्या बोलते बताओ हाँ कहीं सुबह थोड़ा सा सू बन गया उसका सकू का तो तत्सके यम उसको मैं कर सकूं तन मेरा देवताम उसको सिद्ध करवा दो हम जो संकल्प करेंगे व्रत लेंगे ऊंचे ऊंचे व्रतों को ईश्वर की सहायता के बिना उनको हम चल नहीं सकते उनका पालन नहीं कर सकते ईश्वर की सहायता जब उचित मिलती जाएगी तो निश्चित रूप में हम व्रतों में सफल हो जाते हैं ईश्वर की सहायता के बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन सकता ईश्वर की सहायता के बिना कोई व्यक्ति सत्यवादी नहीं बन सकता ईश्वर की सहायता के बिना कोई व्यक्ति अहिंसक नहीं बन सकता ईश्वर की सहायता के बिना कोई व्यक्ति चोरी का त्याग नहीं कर सकता मैं कितना ही कहता चला जाऊंगा मैं आपको वो पूर्ण रूप में जो आदर्श व्यक्ति का निर्माण होता है ईश्वर की सहायता के बिना कभी नहीं होता तच्छ के यम तन मेरा देताम उसको मैं कर सकूं उसको सिद्ध करवाओ फिर कहते हैं वो व्रत क्या चीज है इदम हम अमृतात् सत्यम प्रेमी मैं आज अमृत को छोड़ करके सत्य के ऊपर आरूढ़ होता हूं ये संकल्प लेके चलना है आप संकल्प लेके चलो कल से ये कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है ध्यान दो आप और ये सीखने आप यही आए एक ही सीखने की चीज है मुख्य उसी के पीछे हम सारा जोर लगाते हैं ईश्वर क्या कहता है ईश्वर का आदेश क्या है ईश्वर किसको मना करता है वो हमको दोनों बातें परिज्ञात होनी चाहिए ईश्वर का जो आदेश हम उसको करेंगे और निषेध जो होगा उसको हम छोड़ देंगे जैसे वेद मंत्रों में से संदेश आते हैं क्या अक्षय मादिव्य कृषि में इत कृषस्व ये अथर्वेद का एक खंड है अक्षय मां दिव्य पासों से युवा से मत खेल अक्षय मां दिव्य उससे धन मत कमा कमाते ना आपने देखा आजकल क्या हो रहा है रेल में भी वही देखा होगा आपने रेल में देखो वहां देखो यहां देखो झटाझट बैठ जाते हैं तीन चार जने और शुरू कर देते हैं है जी अक्षय आदि व्यह कृषि इत कृषस्व खेती आदि ईमानदारी से धन कमा चोरी और जोर से नहीं अब दोनों बात कह डाली अरे हाँ बुरे कामों से धन मत कमाओ अच्छे कामों से धन कमाओ और अहिंसा के विषय में कहा मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षणता मित्र से हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे सभी के लिए कहा हे भगवान मुझे सारे के सारे प्राणी मित्र की दृष्टि से देखे और मैं भी सबको मित्र की दृष्टि से देखूं ये ईश्वर का संदेश ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु अपागंत ब्रह्मचर्य का पालन करके देव मृत्यु को भी जीत जाते हैं इसका अर्थ हुआ विभिचारी मत बनो ब्रह्मचारी बनो आप जो मैं सुना रहा हूं कोई पूछेगा आपसे वो कौन सा ईश्वर का आदेश ये ईश्वर के आदेश सुनाए जा रहे हैं इनसे जो विरुद्ध व्यक्ति बात करता है हम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं बस हमारा यही निर्णय ईश्वर की बात को मान के चलेंगे हम उसके विरुद्ध किसी की बात को नहीं मानेंगे इतना ही नहीं कि दूसरे लोगों की बात को नहीं मानेंगे हम अपनी बात को नहीं मानेंगे अपनी बात को नहीं मानना यह बहुत महान कार्य है और क्षण करके देख लो अपने से समझौता करके व्यक्ति झूठ आता है कुछ समझ में आई नहीं आई ध्यान दो अपनी झूठ से अपने छल कपट से अपनी मूर्खता से अपनी वासनाओं से संधि कर लेता है वो व्यक्ति अपनी से संधि कर लेने के पश्चात फिर वो सभी झूठों से संधि करना शुरू कर देता है जो अपने अंदरित से अपनी अविद्या से अपनी कुआसनाओं से अपनी चोरी जारी से संधि कर सकता है वो औरों की से संधि कर लेता है और जो व्यक्ति अपनी अन्याय से अपनी अविद्या से अपनी कुवासनाओं से अपनी चोरी उल्टे कर्मों से संधि नहीं करता वो औरों से भी संधि नहीं करता इसलिए ध्यान दो दूसरों की बात पर हम पीछे जाते हैं पहले अपने अंदर जो अज्ञानता है अपने अंदर जो बुरी वासनाएं है अपने अंदर जो अनृत है अपने अंदर जो मिथ्या आचरण है हम उससे टकराते हैं सबसे पहले इसलिए ऋषि ने एक बात कही कि पहले व्यक्ति अपने दोषों को दूर करे और अपने दोषों को दूर करके फिर उनको बताए क्रिया यहां से आरंभ होती है और आज काहे क्रिया शुरू होती है सारे उल्टे काम बेटी से छोटी तो क्यों वो करता है जो दुनिया का ठेका लेता है सुधार की बात कौन करते हैं बिगड़े से बिगड़ा लोग सुधार की बात करता कल कभी देखना हो प्रस्ताव पारित बड़े बड़े भाषण है आकाशवाणी में देखा आपने बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा इन व्यक्तियों को क्या कहा जाए जो आकाशवाणी में बोलते प्राय सबकी बात नहीं कराएगा तो निकाल दो और प्रस्ताव पारित होते मोक्षधाम प्रस्ताव पारित होते बिल्कुल मिथ्या बुद्धि मिथ्या कल्पना चोर कह दो और कुछ कह दो सारे के सारे रोटे दिमाग के लोग प्रस्ताव पारित कर करके और इस जनता को साधारण लोगों को चूस रहे हैं और गद्दी पर बैठे हैं ये हालत ऊपर से लेकर नीचे तक है सभी का समझौता अपने सारे दोषों से है और इनके ऊपर नियम लागू करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर बिल्कुल उल्टा हो गया बिगड़े हुए लोगों के हाथ में राजनीति बिगड़े हुए लोगों के हाथ में उपदेश बिगड़े हुए लोगों के हाथ में आचार्य पद बिगड़े हुए लोगों पद धन संपत्ति का अधिकार बिगड़े हुए लोगों के ऊपर सारे कानून बिगड़े हुए लोगों के ऊपर न्यायालय बिगड़े हुए लोग उसका संचालन करते इसलिए सुधार की कोई संभावना नहीं है निराश है आज व्यक्ति निराशा की अवस्था में आ पड़े इन लोग कोई भी नजर उठा के देखो किसी भी विभाग में जाके देखो अनर्थ ही अनर्थ तो मिलेगा आपको नीचे से लेकर ऊपर हुआ क्यों हुआ है अपने दोषों से अपनी बुराई से संधि पूरी पुष्टि स्वयं महात्मा बने बैठे हैं और स्वयं सारे के सारे दोषों से उत्तर होते हैं और दूसरे के ऊपर नियम बना, बनाते हैं जैसे संप्रदाय संप्रदाय बहुत जहरीली चीज है संप्रदाय जो है हमारा विनाश कर रही है संप्रदाय विघटन पैदा करता है संप्रदाय को ठेल नहीं देंगे हम पसीना पसीना हो जाते बोलते बोलते और वो व्यक्ति संप्रदाय को स्वयं चलाते हुए जो इतने भाषण देते और इतने लेख लिखते बोलो है या नहीं ऐसा संप्रदाय खड़ा किया उन्होंने संप्रदाय पनपाया है संप्रदाय के नाम से विनाश है लाखों लोगों के भयंकर कष्टों का कारण वही बना हुआ है वो संप्रदाय जो उन्होंने खड़ा कर रखा है और ये भी फिर चौथी तक जो है कि संप्रदाय को खत्म करेंगे संप्रदाय को खत्म करेंगे संप्रदाय को खत्म करेंगे इनको सुभाष जैसा होता था इनके मुंह पर धौल मारता संप्रदाय को बकवास कर रहे हैं आप पता नहीं क्यों ऐसी कबूतर की तरह बैठे हो आप में आग नहीं लगती इन बेचारों को सुखी क्यों भाई बाल को तुम्हारे में तो लग जाती होगी थोड़ी बहुत नहीं भाई पंद्रह वर्ष की और अठारह वर्ष वाली को तो लगनी चाहिए बूढ़िया माता बैठी लड़कियां ही सोचती हम तो हम तो स्त्रियां हैं इनमें तो आग लगनी मुश्किल है जब भी कोई बात हम लड़कियां हैं हम स्त्रियां हैं हम औरत हैं ये तो एक डाल देंगे बस तो आप ऐसे कैसे बैठ रहे हो कैसे ऊँग रहे हो है? आज कुछ है करने की हिम्मत है कल संकल्प लेना है कुछ अब आपके जो है पसीना आने लगा होगा अब देखो जिसका पिता ईश्वर है और जिसकी मां ईश्वर है जिसका आचार्य ईश्वर है जिसका राजा ईश्वर है और सर्वव्यापक है वो किससे डरता है बताओ डरेगा किसी से नहीं डरता नहीं रुकता वो मर तो सकता है शरीर नाजवान है आप यहां से ऐसे बन के जाना है ऐसे खाली नहीं जाना यहां से बस सीधी बात है बोलो आपका पिता ईश्वर है आपकी मां ईश्वर है आपका आचार्य ईश्वर है आपका राजा तो उसके आदेश का पालन करोगे हाथ खड़ा करोगे हाँ अब तो अच्छी बात है अजय सुबह भाई अब भी निकला कर रहे हैं अब देखो बीच में तो थोड़ा सा नींद ना आ जाए इसलिए हंस लेते हैं नहीं तो नहीं तो ये बातें तो आग लगाने की है पर बात यह है सोचने की आ, आप यहां आए वेद ऋषिकृत ग्रंथों का संदेश सुन के जाओ और तैयार हो जाओ जिनसे हम डरते हैं वो क्या चीज है मरेंगे कोई हानि पहुंचाएगा कोई गाली देगा कोई अपमान करेगा धन की हानि हो जाएगी परिवार उजड़ जाएगा ये तो ना कहो तब भी उजड़ेंगे ये तो ये ये नहीं रह सकते आप चाहते हैं हम ऐसे ऐसे ऐसे खड़े रखेंगे एक कुत्ते की कथा आती है ना कुत्ता गाड़ी को बांध दिया गाड़ी है ना छकड़ा बैल तो तगड़े होते हैं और गाड़ी के चकड़े को उड़ा ले जाते हैं है? और कुत्ता दृष्टान चाहिए कुत्ता वैसे इतना मनुष्य नहीं होता पर उस ढंग से जरूर होता है वो चलना नहीं चाहता तो एंट जाता है कुत्ते को बांध रखा था गाड़ी के पीछे ये रस्सी से बांध देते गाड़ी के पीछे और कुत्ते ने ऐसा खींच लिया गाड़ी को कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं <laughs> अरे तो वो वैन जो घुसीट के ये जो सोचती है माताएं मेरे हम घर को चला रहे हैं हम सारी सृष्टि को चला रहे हैं ये सृष्टि नष्ट में हो जा इसलिए विवाह करवाते हैं ये तो कुत्ते वाली कथा है देखो जी हम तो चाहे मनोरंजन से कहें और चाहे जोश में आके कहें गंभीरता से बात वही कहेंगे तीन काल में जो सत्य होगी इनको हंसने के कारण से इनको बातों को मखोल नहीं समझना कभी मार खा जाओगे जो गंभीरता से बात करते हुए इसके कहते अच्छे जो कहते हुए गंभीरता से कहते ऐसा सोचना सोचने की शैली है हम यहां आए और हमारा मनुष्य जन्म है हमारा पिता हमारी मां हमारा आचार्य हमारा राजा सर्वशक्तिमान सचिदान है ये दो मुख की हड्डी वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे आप बताओ बिगाड़ेंगे हमारा कुछ कल ये पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको जलाते हुए दिखाई देंगे कल जो हमारी बातों को रोकता है ऐसे मुंह भाई मरेंगे ऐसे पड़ेगा वो हमारे हमको रोके करो हम नहीं मानते इन बातों को ऋषि ने तो याद कर दिया चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना अन्यायकारी उसका विरोध करेंगे हम उसकी बात नहीं मानेंगे हम चाहे कितना ही दुख हो और चाहे प्राण भी क्यों नहीं चले जाए हम पीछे हटेंगे नहीं ये ऋषि का सिद्धांत मंतव्य मंतव्य में देखो हम तो जी ऐसा ही करेंगे आप अपना हाथ खड़ा कर लिया बाहर जा नहीं सकते आप सीधी बात है हाँ कार्य हुआ साधे में देव हुआ पाती है कार्य को सिद्ध करो या देह को नष्ट होने दो दो ही काम करेंगे हम तो यदि देश को बचाना है धर्म को बचाना है विरोधों को बचाना है ईश्वर के हम पुत्र हैं ईश्वर के हम शिष्य हैं उस ईश्वर की परंपरा को सुरक्षित रखना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा ये जीना कुछ भी नहीं है ये बेकार की चीज है यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो बस एक ही बात है हम तो जिएंगे तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे नहीं तो मर के अगला जन्म ले लेंगे कोई बात अगले में फिर वही करेंगे फिर मर जाएंगे तो फिर वही लेंगे आपने सुना है क्रांतिकारियों का मैं भाव सुनाता हूं कौन से दुश्मन थे या कौन थे भगत सिंह थे ये बात ऐसी उठाई गई थी आप क्षमा मांग लो क्षमा मांग लो आपको फांसी भी तोड़ेंगे और क्या करेंगे 20 वर्ष तक कारागार में रखेंगे भाव सुना रहा हूं उसका कि मैं पूरी पूरी बात क्या थी वो अलग से एक भाव मात्र सुनाऊंगा उन्होंने कहा कि बीस वर्ष तक मुझे कारागार में रखोगे हाँ और क्षमा मांग लो फांसी नहीं तोड़ोगे उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी फांसी तोड़ो बीस वर्ष में बार जन्म लेके मैं अंग्रेजों का पूरे जन्म फाड़ूंगा इनकी तो हम तो जी ये करेंगे आर्यवन विकास में करेंगे या नहीं हारेंगे तो और कहीं करेंगे करना यही हम अब आप हमारे साथ रहो तो आदि हो जाएंगे जीत जल्दी हो जाएगी नहीं होगी तो देर में हो जाएगी पर सत्य में हो जाएगी नान रीतम हम इसको निश्चित मानते हैं जिताने वाले जी भी होते हैं जिताने वाले हो तो सत्य की जीत होती है और भाजपा आप बात डरे बैठे हो तो सत्य की जीत ऐसे नहीं हो जाती मर बैठने की आवश्यकता है आप ब्राह्मण बन के काम करो ब्राह्मण बनो सन्यासी बनो ब्राह्मण का इतनी योग्यता नहीं हो तो क्षत्रिय बनो श्री रामचंद्र की तरह महाराणा प्रताप की तरह तो वही करो अगर दो भी ना बन सको तो कौन बनो वैश्य बन जाओ कम से कम जितना धन हो अपने पास जितना सामर्थ्य हो झोंक दो तो देश के लिए मैं ऐसा सुना करता हूं लोगों को ध्यान रखो आज तुमने लाखों करोड़ों का जो जमा कर रखा है ईट पर ईट रखते जा रहे हो ऊपर आकाश में ये पत्थरों की ये विनाश का कारण बनेगी सारी की सारी ये धन और ये कोठी तुम्हारे बेटे को तो नहीं खा पी सकेंगे अब याद रख लो अब क्या करो कल्पना करते हैं कि तीन लाख धन हमारे पास में है कल्पना करो दो लाख रख लो और एक लाख देश के लिए धर्म के लिए लगा दो दो लाख बचेगा तीन बेटे हैं दो बेटे आपने रख लो एक बेटा देश के लिए धर्म के लिए स्वतंत्रता के लिए सबसे कभी भाषण करते चले जाओ वो दो बेटे बचेंगे दो लाख रुपया बचेगा अन्यथा वो दो लाख भी नहीं बचेगा बेटा भी नहीं बचेगा आप भी नहीं बचेंगे आने वाली पीढ़ी खत्म अब बताओ बुद्धिमान क्या करेगा बुद्धिमान वही व्यक्ति है दो को बचाएगा एक को देख करके और मूल कोई व्यक्ति है तो तीन को खोएगा वो तीन को खोना हो तो ऐसे बैठे रहो और दो को बचाना हो तो एक का दान कर दो क्यों जी तैयार तो हो ना दो बेटे हो तो एक बेटे का दान तीन लाख रुपया हो तो एक लाख रुपए का दान ठीक है समय हमारा समाप्त होता है आप ऐसे बन के जाए हम तो ऐसा करेंगे आप हमारे साथ रहो हम अन्याय से टकराएंगे अज्ञान से टकराएंगे अधर्म से टकराएंगे कुरीतियों से टकराएंगे देश जाति धर्म की ऊर्जा की रक्षा करेंगे हम यदि हमने ऐसी तैयारी नहीं की तो सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी आज ऐसा आक्रमण हो चुका है बाहर से भी और अंदर से भी और स्वार्थी लोग लोभी लोग जैसे कि मुसलमानों का आक्रमण हुआ था उस समय ये पंडे पुजारी अपने खाने पीने की दाल पूरी कचौड़ी पर लड़ते रहे जलेबी लाडू का लड़ते रहे खीर उसमें लड़ते रहे जनसंपत्ति में लड़ते रहे भारत का विनाश कर दिया था स्वार्थी लोग आज देश में अपने अपने घरों को भर रहे हैं और अपनी अपनी झोली भरते जाते हैं और देश जाए बाहर में ये स्थिति भारत के व्यक्ति की हो चुकी है अब यदि हम भी उसी पंक्ति में खड़े होते तो हमारा बेकार जीवन है इसलिए संकल्प लो मंत्र से और जीवन में अपने लिए और औरों के लिए कुछ करके जाओ ठीक है अब मैं यहीं पर विराम देता हूं